आत्मा पिछली चर्चाओं के संबंध में एक मित्र ने बहुत अजीब प्रश्न पूछा अजीब इसलिए कि पहली अजीब बात तो ये है कि वो प्रश्न ही नहीं उन्होंने पूछा है प्रश्न भी पूछा है साथ लिखा है अगर आपको पता ना हो तो मैं इसका उत्तर आपको आके दे सकता हूँ उन्हें उत्तर पहले से पता है तो व्यर्थ पूछने की परेशानी नहीं करनी चाहिए और अक्सर ऐसा होता है कि हम पूछते हैं लेकिन उत्तर हमें पता है तो हमारा पूछना छूटा हो जाता है अभ्यंसित नहीं रह जाता अगर पता ही है तो बात खत्म हो गई अगर पता नहीं है तो ही पूछने में रस है अर्थ है खोज का आनंद लेकिन हम सभी को मैं उत्तर दे रहा हूं पूरा कर लेंगे बड़ा कृपा की कि आप पता भी चल गए कि कौन है उत्तर दे रहा हूं उत्तर में दे रहा हूं मैंने सोचा था नाम उनका न लूंगा कि वो पता ना चल जाए लेकिन वो मानते नहीं मुझे उत्तर तो देने दे तो। पहली तो बात यह है कि अक्सर हम पूछने से पहले ही हमारा उत्तर तैयार रखते हैं जिस आदमी का उत्तर तैयार है वो आदमी सुनने में भी असमर्थ होता है सुनने के लिए जो तैयारी चाहिए वो भी उसके भीतर नहीं होती उसके भीतर अपना उत्तर भी घूमता रहता है वो सुनने को तो सुनने के लिए मुक्त और खुला उसका मन भी नहीं होता दूसरी बात है उन्होंने बड़े मजे की बात लिखी है उन्होंने लिखी है कि वे रियलाइज सोल है खुद आत्मा को जान चुके ज्ञान उन्हें उपलब्ध हो चुका है प्रकाश उन्होंने पा लिया है और ये भी लिखा है कि मनुष्य जाति में अब तक कोई आदमी जिस गहराई पर नहीं पहुंचा उसमें वो पहुंच के वापस आ गए तब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मुझ जैसे अज्ञानी को सुनने इतने ज्ञानियों को नहीं आना चाहिए मैं तो रहे पूरी बात इतनी जल्दी तो नहीं इतनी जल्दी से पूरी बात दिखाई दिया असल में ना आप आप परेशान ना हो आप परेशान ना हो ना ना उनको कुछ ना कहिए उनको बैठा रहने दीजिए बीच बीच में बोले तो हर जाती नहीं थोड़ा ज्यादा आनंद आएगा उनको बैठे नहीं दीजिए यहाँ कोई हर्ज नहीं है बीच में थोड़ा बोलेंगे तो गुस्सा लेने की कोई बात नहीं आप लोग बैठ जाए उनको उनको बैठने का कुछ कहते हैं तो हर्ज भी नहीं है बैठे आप उनको क्योंकि न करें थोड़ी जिस व्यक्ति को भी ऐसा ख्याल पैदा हो जाए कि उसे ज्ञान उपलब्ध हो गया है उसे अब किसी और ज्ञान की कोई जरूरत नहीं रह जाती तो जितने भी ये ख्याल हो जाए उसने परमात्मा को पा लिया है अब पाने को कुछ से नहीं रह जाता है उसकी खोज खत्म हो गई एक अर्थ में वो आदमी वो व्यक्ति अब और किसी अन्वेषण पर जाने में असमर्थ हो गया अंतिम खोज पूरी हो गई बहुत लोगों को यह ख्याल पैदा हो सकता है मैं नहीं कहता हूं उनका ख्याल गलत लेकिन एक बात पक्की है चाहे सही हो चाहे गलत जिस आदमी को यह ख्याल हो गया कि मैंने सब जान लिया है अब जानने का उसे और उपाय नहीं बनता है उसकी जानने की कोशिश अब व्यक्त परेशानी पैदा करती है और कुछ भी पैदा नहीं करती एक व्यक्ति ही नहीं पूरा समाज भी भ्रम में पड़ सकता है कि हमने जान लिया हमारा देश ऐसे ही भ्रम में बहुत दिन तक रहा है कि हमने सब जान लिया और उस सब जानने के भ्रम के कारण तीन हजार वर्षो से भारत में ज्ञान की कोई नई किरण नहीं उतरी कोई नया द्वार नहीं खोला हमने कोई नई खोज नहीं की क्योंकि जब पूरे समाज को यह ख्याल पैदा हो गया कि सब जान लिया गया तो अब और जानने को क्या शेष रह जाता आइंस्टीन से कोई पूछ रहा था मरने के आठ दिन पहले कि आप एक वैज्ञानिक बुद्धि के व्यक्ति में और एक अवैज्ञानिक बुद्धि के व्यक्ति में क्या फर्क करते हैं आइंस्टीन ने जो कहा वो सुनने समझने जैसा है आइंस्टीन ने कहा कि अगर एक वैज्ञानिक व्यक्ति से आप सौ प्रश्न पूछे तो निन्यानबे प्रश्नों के संबंध में तो वो कह देगा मुझे पता नहीं है सौवें प्रश्न के संबंध में वो कहेगा मुझे पता है लेकिन बहुत थोड़ा क्योंकि कल और पता हो जाएगा परसों और पता हो जाएगा तो ज्ञान रोज विकासमान है इसलिए जो मैं कहता हूँ इस शर्त के साथ कि अभी तक जो जाना गया है वो इतना है ज्ञान पूरा नहीं है पूर्ण नहीं लेकिन एक अवैज्ञानिक आदमी से अंत चिन्ह का अगर आप सौ प्रश्न पूछे तो वो सौ की जगह एक सौ एक के उत्तर देगा और हर उत्तर पर दावा करेगा कि ये उत्तर पूर्ण है और आखिरी है इसके आगे उत्तर नहीं हो सकता मनुष्य को अज्ञान में रखने का बड़े से बड़ा कारण जो है वो ज्ञान की सर्वज्ञता पूर्णता का भ्रम है जिस समाज को जिस व्यक्ति को जिस राष्ट्र को ये मस्तिष्क में ऑप्शन ये पागलपन पकड़ जाए कि सब जान लिया गया उस आदमी के ज्ञान की सब यात्राएं समाप्त उसकी नौका किनारे से बंध गई अब यात्रा आगे नहीं हो सकेगी मैं नहीं कहता वो गलत है लेकिन इतना मैं कहता हूँ अब उसकी जीवन में कोई अर्थवत्ता और जरूरत नहीं वो व्यर्थ हो गया इसलिए तो पुराने लोग कहते हैं जिसका ज्ञान पूर्ण हो जाता है उसे फिर पृथ्वी पर भेजने की कोई जरूरत नहीं पड़ती उसे मोक्ष में भेज देते फिर यहाँ कोई जरूरत नहीं है यहाँ जीवन अधूरा है प्रतिदिन और सब ज्ञान अधूरा रहेगा सदा कितना ही हम जाने फिर भी जानने को अनंत शेष रह जाता है यही तो परमात्मा की अनंतता इंफिनिटी है हम एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनंत और दूसरी तरफ एक आदमी कहता मैंने परमात्मा को जान लिया इन दोनों में क्या अर्थ हुआ अगर परमात्मा अनंत है तो मैं कितना ही जान लू तो भी अनंत जानने को सदा शेष रह जाएगा और मैं कभी दावा नहीं कर सकता कि मैंने जान लिया परमात्मा के अनंत होने का एक ही अर्थ हो सकता है कि हम सीमित कितना जान सकेंगे हम एक किनारे से थोड़ा सा स्वाद लेने काफी है लेकिन जो स्वाद ले लेगा अनंत का जो भी थोड़ा सा स्वाद ले लेगा जो थोड़ा सा भी आंख खोल सकेगा उस प्रकाश की तरफ वो ये भूल ही जाएगा कि मैं और जानता हूं क्योंकि उस प्रकाश में मैं तो खो जाता है ऐसे ही जैसे सुबह सूरज निकलता है पत्तों पर पड़े ओस के कण सूरज की रोशनी में विलीन हो जाते हैं ऐसे ही हम हमारे में उस प्रकाश की रोशनी में विलीन हो जाते हैं इसलिए उपनिषदों ने कहा है कि जो कहता हूं मैं जानता हूं जान लेना कि वो कम से कम निश्चित है कि नहीं जानता है जो कहता हूं कि मैं जानता हूं निर्णय दे दिया उसने कि वो नहीं जानता है क्योंकि ये दावा बहुत गहरे में सूक्ष्मतम अहंकार है कोई आदमी दावा कर सकता है मैं धनी हूँ कोई आदमी दावा कर सकता है मैं पद वाला हूँ कोई आदमी दावा कर सकता है मैं ज्ञानी हूँ कोई आदमी दावा कर सकता है मैं त्यागी हूँ लेकिन सब दावे के पीछे एक ही खड़ा हुआ है मैं और वो मैं ज्ञान की सत्य की प्रकाश की यात्रा में सबसे बड़ी बात है मैं कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं हूँ इसलिए किसी से कोई झगड़ा नहीं है कोई झगड़ा नहीं है और मुझे अपने को अज्ञानी मान लेने में जितना सुख मालूम पड़ता है उतना किसी और चीज में मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि अज्ञानी हूं तो खोज सकता हूं तो परमात्मा और शेष रह गया है उसे और जान जा, जाना जा सकता है और कभी नहीं चाहता कि ये खोज बंद हो जाए उसे हम जानते ही चले जानते ही चले हम उसे कितना ही जान ले फिर भी वो शेष रह जाए क्योंकि जिस दिन ऐसा हो जाए कि परमात्मा भी पूरा जान लिया गया उस दिन आत्महत्या के सिवाय और क्या उपाय रह जाएगा फिर करने को क्या बचता है सब खत्म बटन रसल ने कहीं एक मजाक लिखी है लिखा है कि मैं स्वर्ग या मोक्ष जाने से बहुत डरता हूं किसी ने पूछा क्यों वचन रसल ने कहा कि इसलिए डरता हूं कि एक तो मोक्ष में कोई प्रश्न नहीं होंगे क्योंकि वहां सभी ज्ञानी होंगे पूर्ण ज्ञानी वहां रहते कोई बातचीत नहीं हो सकेगी क्योंकि किससे कौन बात करेगा और बड़े मजे की बात है वहां खोजने को कुछ ना होगा करने को कुछ ना होगा जीने को कुछ ना होगा बस बैठे रहना बैठे रहना होना और होना बहुत बोर्डम पैदा हो जाएगी बटरसन कहता है मोक्ष जाने से बहुत डर लगता है और वहां से लौटने का भी उपाय नहीं एंट्रेंस है एग्जिट नहीं है मोक्ष के एक दफा चले गए वापस लौटने का उपाय नहीं कितना ही तरफ को लौटने का रास्ते नहीं है मोक्ष से लौटने का सवाल कहाँ है बटरसन कहता है अज्ञानी बले पूर्ण ज्ञान से क्षमा चाहते रविन्द्रनाथ मर रहे हैं जिस दिन मृत्यु हुई सुबह एक आदमी ने आकर रविन्द्रनाथ को कहा बूढ़ा आदमी है रविन्द्रनाथ को प्रेम करता है कहा कि अब प्रभु से प्रार्थना करो कि अब दोबारा जगत में न भेजे मुक्ति दे दे मोक्ष दे दे आवागमन से छुटकारा दे दे रविन्द्रनाथ आंख बंद पड़े आंख बंद किए पड़े थे आंख खोली कहा क्या कहते हैं मैं और मुक्ति मांगू नहीं मैं तो मांगूंगा निरंतर मुझे वापस भेज देना अभी बहुत जानने को शेष रह गया अभी बहुत जीने को शेष रह गया और मैं मुक्ति मांगू तो परमात्मा पे बड़ा ऐतराज हो जाएगा उसने भेजा और मैं मुक्त होना चाहता हूं मैं मुक्ति नहीं मांगूंगा क्योंकि उसके बंधन भी बड़े आनंदपूर्ण थे और इस जगत की यात्रा भी बड़ी रस्ते भरी थी मैं चाहूंगा कि अगर मुझे योग्य पाया हो तो बार बार भेज देना ताकि ये खोज ये जीना ये जीवन के अनंत अनंत दिशाओं में यात्रा जारी रहे मैं मैं मुक्ति नहीं मांग सकता हूं लेकिन कुछ लोग कुछ समाज कुछ परंपराएं मृत हो गई है यही धारणा पकड़ के सब जान लिया सब पा लिया सब हो गया फिर फिर सिवाय मृत्यु के महामृत्यु के महाअंत के और क्या उन मित्र ने जो प्रश्न पूछा है वो भी बहुत बढ़िया है उस पर भी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए उन्होंने पूछा है कि क्या आप भारतीय संस्कृति को गलत मानते हैं भारतीय और अभारतीय का सवाल नहीं है आज तक मनुष्य के जीवन में जिस संस्कृति से हमने व्यवस्था दी है अगर वो सही होती तो जीवन के सारे दुख सारी पीड़ाएं सारे तनाव सारी चिंताएं विदा होने चाहिए पांच हजार वर्ष के प्रयोग के बाद चिंताएं निरंतर बढ़ती चली गई हैं दुख गहरा होता चला गया है आदमी ज्यादा पीड़ित ज्यादा परेशान होता चला गया पांच हजार वर्ष के <laughs> बैठे बैठे उन्हें जाने दें कोई बात <laughs> उनको जाने दें जाना हो तो दरवाजा खोल रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं उनको जाने दें बैठी बैठी मनुष्य की जो भी समाज व्यवस्था जो भी सभ्यता जो भी संस्कृति हमने निर्मित की है हम उसी के फल हमने जो धारणाएं निर्मित की हैं जो संस्कार निर्मित किए हैं उनका हम परिणाम ये सवाल भारतीय अभारतीय का बिल्कुल नहीं है ये सवाल है इस बात का कि पुराना ठीक है या हम नए की खोज करें अगर पुराना ठीक है तो फिर हम पुराने ढांचे में ही ये चले जाएं और अगर पुराना ठीक स्थापित न हुआ हो तो हम नए संस्कार नई संस्कृतियों नई शिक्षाओं नई दिशाओं की खोज करें ये सवाल है ये भारतीय अभारती का सवाल ही नहीं है आज तक पीछे मनुष्य ने एक ढंग से सोचा था उस ढंग से सोच के हमने प्रयोग भी किया है आदमी ने जीने की कोशिश भी की है परिणाम क्या है परिणाम अत्यंत ट्रेजिक अत्यंत दुखद आया जीवन हमारे सामने खड़ा है ये परिणाम क्या इस जिंदगी को ही आगे दोहराए चले जाना है या कोई बदलाव चाहिए जैसे मैं उदाहरण के लिए दो चार बातें कहूं जैसे हमने पुराने समस्त इतिहास में सब मनुष्यों को राष्ट्रीयता सिखाई भारतीयता चीनी होना जापानी होना जर्मनी इंग्लिश अमरीकी रूसी पुरानी पूरी संस्कृतियां देसी राष्ट्रीय एक भूगोल की सीमा को मान के जीती थी उनका आग्रह था हम विशिष्ट हैं दूसरों से भारतीय होना विशिष्ट होना है चीनी होना विशिष्ट होना है जापानी होना विशिष्ट होना है सारी संस्कृतियां राष्ट्रीय थी राष्ट्रीय संस्कृतियों ने जितने युद्ध और हिंसा और परेशानी दी है अब आगे भी राष्ट्रों को बनाए रखना है या विदा कर देना है क्या मनुष्यता को एक होना चाहिए पूरी पृथ्वी को या खंड खंड में टूट कर ही हमें किए चले जाना पुरानी सब संस्कृतियां राष्ट्रीय थी भविष्य की संस्कृति अंतरराष्ट्रीय ही हो सकती है अगर हमने सोच विचार के काम किया तो वो भारतीय नहीं होगी चीनी नहीं होगी जापानी नहीं होगी मानवीय होगी ह्यूमन होगी जागतिक होगी यूनिवर्सल होगी खंड खंड में तोड़ के हमने कितना उपद्रव पैदा किया है आज सोचना बहुत मुश्किल मालूम पड़ता है अगर हम तीन हजार वर्ष का इतिहास उठाएं तो आदमी रोज लड़ता रहा है राष्ट्र के नाम पर धर्म के नाम पर जाति के नाम पर आदमी लड़ता ही रहा है अगर पूरे इतिहास की किताब पढ़ के कोई कहे तो कहना पड़ेगा मनुष्य की परिभाषा करने में अरस्तु कहता है मैन इज रेशनल एनिमल आदमी बुद्धिशाली प्राणी है इतिहास देख के कहना पड़ेगा नहीं man is a warring animal आदमी युद्ध करने वाला प्राणी तीन हजार साल सिवाय युद्ध के हमने कुछ भी नहीं किया और सारी शक्ति युद्ध के अस्त्र शस्त्र खोजने में लगा दी आज जमीन पर इतनी गरीबी है इतना दुख है लेकिन सारी जमीन की साठ प्रतिशत संपत्ति और नए बम ईजाद करने में संलग्न है रास्तों के कारण अगर राष्ट्र न हो तो ये सारी संपत्ति मनुष्य को सुखी करने में संलग्न हो सकती नहीं पुरानी खंड खंड पृथ्वी आगे अखंड होनी चाहिए रूसी पहला अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन आकाश में उठा पहला आदमी जिसने पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ा लौट के उसके मित्रों ने पूछा ऊपर जाके तुम्हें कैसा भाव उठा पहला क्या भाव उठा रूस की याद आई यूरी गागरिन ने कहा क्षमा करना रूस की याद नहीं आई याद आई मेरी पृथ्वी माई अर्थ मैं रसा नहीं मेरा रूस नहीं क्योंकि उस दूरी से देखने पर सारी पृथ्वी एक मालूम पड़ी पहली दफे पता चला कि पृथ्वी एक है खंड सब आदमी के बनाए हुए पृथ्वी बिल्कुल एक है कोई खंड नहीं मेरी पृथ्वी ऐसा भाव था उसमें अमेरिका भी था रूस भी था चीन भी था सब थे और पृथ्वी अखंड थी मनुष्य जितना ऊंचा उठेगा चाहे आकाश में और चाहे अंतरात्मा में उतने खंड गिरते चले जाएंगे जितना ऊंचा उठेगा आदमी उतने खंडों के ऊपर उठेगा जितना नीचा गिरेगा आदमी उतना खंडों में गिरेगा भारतीय संस्कृति भी बड़ा खंड है अगर भारत में गांव गांव घूमे तो पता चलेगा महाराष्ट्र अलग संस्कृति है गुजरात अलग संस्कृति है तमिल अलग आंध्र अलग बंगाली अलग और गुजरात में भीतर प्रवेश कर जाए तो पता चलेगा सौराष्ट्र अलग गुजरात अलग और भीतर घुसते चले जाए तो पता चलेगा कि सबके अपने अपने बहुत ही छोटे छोटे आंगन हैं इन छोटे छोटे आंगनों को पृथ्वी में बांट दें अगर हम तो सिवाय कले के और युद्ध के क्या पैदा हो सकता है इसलिए मैं कहता हूँ अब तक की संस्कृतियां भारतीय थी जापानी थी अगर अच्छी दुनिया बनानी है तो आने वाली संस्कृति भारतीय नहीं होगी जापानी नहीं होगी पूर्वी नहीं होगी पश्चिमी नहीं होगी संस्कृति होगी मनुष्य की होगी पूरी पृथ्वी की होगी सार्वलौकिक होगी सार्वजनिक होगी हम सबकी होगी एक पृथ्वी वन वर्ल्ड एक जगत की होगी इसलिए भारतीय संस्कृति और गैर भारतीय के भेद में और विचार में पढ़ने का कोई प्रयोजन नहीं ये भी ध्यान रहे अब तक की सारी संस्कृतियां मनुष्य के संबंध में बहुत गहरे अज्ञान पर खड़ी थी असल में मनुष्य के संबंध में हमारा ज्ञान ही बहुत कम हम पदार्थ के संबंध में जितना जानते हैं उतना मनुष्य के संबंध में नहीं जानते तीन हजार साढ़े तीन हजार साल पहले मनु ने एक संस्कृति का आधार रखा साढ़े तीन हजार वर्ष पहले आदमी के संबंध में ज्ञान इतना कम था जिसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल है उस ज्ञान के आधार पर मनु ने कुछ सूत्र बनाए उस समय के ज्ञान के लिए शायद वे श्रेष्ठतम सूत्र रहे होंगे साढ़े तीन हजार वर्षो में आदमी के ज्ञान में अद्भुत गति की इतना विकास हुआ है कि अगर हम आदमी के पूरे ज्ञान का प्रयोग करें तो एक बिल्कुल ही और तरह की संस्कृति निर्मित होगी जो कि अतीत में कभी निर्मित नहीं हुई थी उदाहरण के लिए एक आदमी सिगरेट पी रहा है तो पुरानी संस्कृति कहती सिगरेट पीना पाप है बंद करो सिगरेट मत पियो पांच हजार साल से हम समझा रहे हैं सिगरेट मत पियो कोई फर्क नहीं पड़ता सिगरेट पीने वाला पिए ही चला जाता है रोज सिगरेट पीने वाला बढ़ता चला जाता है अरबों खरबों रुपयों की आदमी सिगरेट पीता है तम्बाकू पीता है चिलम पीता है हजार उपाय है कितना हमने चिल्लाया सिगरेट मत पियो कितना हमने समझाया नुकसान होता है लेकिन आदमी पिए चला जाता है क्या हम चिल्लाते रहे आगे भी पांच हजार साल काफी नहीं है चिल्लाने के लिए नहीं नया ज्ञान मनुष्य के बाबत ये कहता है कि जो आदमी तमाकू खाता है या सिगरेट पीता है उसके शरीर में निकोटिन की कमी और जब तक निकोटिन की कमी है कोई शिक्षा काम नहीं करेगी निकोटिन पूरा हो आदमी सिगरेट धूम्रपान से मुक्त हो सकता है मेक्सिको में एक बड़ी लेबोरेटरी पिछले पंद्रह वर्षों से काम करती रही है और नतीजे बहुत अद्भुत है एक बूंद निकोटिन की आपके शरीर में डाल दी जाए फिर आप सिगरेट पिए तो बिल्कुल कचरा मालूम पड़ेगी वो सिगरेट से जो निकोटिन जा रहा है वही आपको जरूरी मालूम पड़ रहा है उसी के लिए आप सिगरेट पिए चले जा रहे हैं नया मनुष्य अब इसकी फिक्र छोड़ देगा कि समझाओ सिगरेट मत पियो जो बच्चे सिगरेट पीने जाते हैं माँ बाप उनकी परीक्षण करवा सके कि उनके निकटन की कमी तो नहीं है कमी है तो निकटन की कमी पूरी कर दो सिगरेट पीने वाला बच्चा खबर दे रहा है कि शरीर में कहीं कुछ कमी और आप हैरान होंगे 80 परसेंट लोगों के शरीर में निकोटिन की कमी थोड़े बहुत लोगों के शरीर में नहीं है कमी वो कुछ प्राकृतिक भूत मालूम पड़ती बहुत कम लोगों के शरीर में निकोटिन पूरा लेकिन जिसके शरीर में पूरा है वो सिगरेट न पीने से महात्मा हो जाएगा मामला सिर्फ निकोटिन का है और कुछ भी नहीं मनुष्य के संबंध में हमारा ज्ञान इतना बड़ा है एक एक चीज के संबंध में हमारा ज्ञान इतना बड़ा है कि अब हम पुरानी बातों को दोहराए चले जाएं जिनसे कोई फल नहीं निकला परिणाम निकला बहुत गलत बात है हम हजारों साल से मानते रहे हैं कि एक आदमी इसलिए गरीब है कि उसके भाग्य में गरीब होना लिखा है अब ये बात नहीं मानी जा सकती ये बात सरासर झूठ है किसी के भाग्य में गरीब होना नहीं लिखा है समाज की व्यवस्था गरीब और अमीर को पैदा करती है अगर समाज की व्यवस्था बदल जाए तो गरीब अमीर को मिटाया जा सकता है बिना किसी के भाग्य की रेखा को जरा भी छुए 20 करोड़ लोग रूस में एक भाग्य के हो गए 20 करोड़ लोग वही खोपड़ी है वही हाथ की रेखाएं हैं कोई फर्क नहीं पड़ा हाथ की रेखाओं में हम अभी अपने मुल्क में जानते हैं सैकड़ों राजा थे मुल्क में एक व्यवस्था से वे विदा हो गए सैकड़ों राजाओं के हाथ की रेखाएं एकदम से राजा होने की न रह गई हो ऐसा नहीं हो सकता हिरोशिमा में एटम गिरा एक लाख आदमी मरे उनके हाथ की रेखाएं देखे किस किस की मौत आ गई थी एक लाख आदमियों की मौत आ गई थी एक साथ एक घड़ी में हाथ की रेखाएं झूठी साबित हो गई बागी की रेखाएं समाज की व्यवस्था की सुरक्षा है बागी की कोई रेखा नहीं है इस तरह की कि किसी को गरीब बनाए किसी को अमीर बनाए पुरानी सारी संस्कृति भाग्य पर कर्म पर और एक एक आदमी की अपनी जीवन व्यवस्था पर निर्भर थी समाज की व्यवस्था का कोई बोध नहीं था सोशल कंसेप्ट ही नहीं था कोई समाज की धारणा नहीं थी क्या हम किसी को दोहराए चले जाएं एक भिकमंगे को यही कहें कि तेरा भाग्य है कि तू भीख मांग रहा है और धनपति को समझाएं कि तुम दो पैसे इसे दान देते चले जाओ क्योंकि तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें दान देने का अवसर मिला है ये हम कहते रहे इससे गरीबी तो नहीं मिटी इससे गरीबी नहीं मिट सकती है आगे भी नहीं मिट सकती है और जिस समाज को जिस जाति को जिस देश को ये ख्याल हो जाए भाग्य का वो देश एकदम शक्तिहीन हो जाता है भाग्य एकदम इम्पोर्टेंस ला देता है सब तरफ निर्वीर छा जाता है क्योंकि भाग्य से हम खत्म हो गए हैं अगर भाग्य नहीं है और हमें कुछ करना है तो शक्तियां जगती हैं परमात्मा सबके भीतर है और बड़ी शक्तियां लिए भीतर है लेकिन भाग्य ने सबके परमात्मा को एकदम शक्तिहीन कर दिया है पुरानी सारी संस्कृति भाग्यवादी की फेटलिस्ट की मनुष्य की भविष्य की संस्कृति भाग्यवादी नहीं हो सकती मनुष्य की भविष्य की संस्कृति पुरुषार्थ की होगी अगर गरीबी है तो मिटाएंगे अगर बीमारी है तो मिटाएंगे अगर उम्र कम है तो बढ़ाएंगे नहीं अब ये नहीं चलेगा कि एक आदमी मान के बैठ जाए कि मेरी उम्र सत्तर साल की थी इसलिए सत्तर साल किया आदमी की उम्र कितनी भी बढ़ाई जा सकती है और वैज्ञानिक इस ख्याल में है कि कोई भी आदमी कितने ही लंबे समय तक जीवित रखा जा सकता है और आज नहीं कल 50 वर्षों के भीतर हम वो सूत्र खोज लेंगे कि आदमी को अंतहीन काल तक जीवित रखा जा सके एक अमेरिका के अरबपति ने मर गया है पांच वर्ष पहले अपनी लाश को वैज्ञानिकों को सौंप गया है और कई करोड़ रुपए का फंड सौंप गया है साथ में कि उसकी लाश को फ्रीज करके ठंडा करके सुरक्षित रखा जाए तब तक जब तक मनुष्य को पुनर्जीवित करने और लंबी उम्र देने का नियम न मिल जाए जिस दिन मिल जाए उस दिन उसकी लाश को पुनर्जीवित किया जाए वो लाश सुरक्षित है उस पर भारी खर्च हो रहा है और वैज्ञानिकों को आता है कि जिस दिन सूत्र मिल जाएगा उस लाश को पुनर्जीवन किया जा सकेगा दुनिया कहां जा रही है मनुष्य का ज्ञान क्या खोज रहा है लेकिन नहीं वो पुराने ढांचे की बुद्धि वो क्या कहती पूरी के शंकराचार्य ने भी क्या कहा उन्होंने कहा कि ये चांद आदमी गया ही नहीं ये आर्म स्ट्रांग वगैरह सब कपोल कल्पना ये सब झूठी बकवास कोई कहीं गया नहीं ये सब अफवाहें एक और अगर पहुंच भी गए हो तो ये असली चांद नहीं असली चांद हमारा शास्त्रों का सूरज के आगे दुनिया हंसेगी हम पर हमारे बच्चे भी कल हंसेंगे हम पर और सोचेंगे किस तरह के लोग हैं उसका कारण है पुरानी संस्कृति मानती थी सब पा लिया गया सब जान लिया गया आगे कुछ जानने को नहीं उन्होंने जो सूत्र और नियम बनाए थे उस समय के ज्ञान के लिए पर्याप्त थे लेकिन ज्ञान रोज आगे बढ़ रहा है जिनने गणना की है वे लोग कहते हैं कि 1800 वर्षों में जीसस से लेके जितना ज्ञान विकसित हुआ था उतना पिछले डेढ़ सौ वर्षों में विकसित हुआ है और पिछले डेढ़ सौ वर्षो में जितना ज्ञान विकसित हुआ था पिछले पंद्रह वर्षों में हुआ है और पिछले पंद्रह वर्षों में जितना विकसित हुआ आने वाले डेढ़ वर्षों में होगा इतनी तीव्रता से ज्ञान का विस्तार और फैलाव है हम जीवन के बाबत इतना जान रहे हैं जिसकी की कल्पना करनी कभी संभव नहीं थी इस सबको ध्यान में रखकर नई संस्कृति निर्मित करनी पड़ेगी नई संस्कृति का पुराने से कोई बहुत संबंध होने वाला नहीं है नई संस्कृति के सारे आधार नए होंगे बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं सारी शिक्षा हमारी बहुत पुराने ढांचे की है जो नवीनतम खोज हो गई है उसकी एप्लीकेशन अभी मुश्किल मालूम पड़ रही रूस में वे एक नया प्रयोग कर रहे हैं वे प्रयोग कर रहे हैं कि बच्चों को बजाय दिन में शिक्षा देने के रात में स्लीप टीचिंग देना ज्यादा उचित होगा दिन भर बच्चे खेलें क्योंकि बच्चों का खेलना छूट जाता है जो कि बहुत बड़ा नुकसान पांच साल के बच्चे को हम स्कूल में भर्ती कर देते उसका बचपन बुढ़ापे में बदलना शुरू हो गया पांच साल के बच्चे को स्कूल में भर्ती कर दिया वो कभी खेल नहीं पाया आनंद से नाच नहीं पाया तैर नहीं पाया वृक्षों पर चढ़ नहीं पाया पहाड़ियों पर दौड़ नहीं पाया बस्ते का बोझ ही उसका पहाड़ बन गया स्कूल की सीढ़ियां उतरना चढ़ना ही उसका सारा खेल हो गया पांच छह घंटे पांच साल के बच्चे को हम स्कूल में बिठा देते हैं उसकी सारी बुद्धि को जड़ता उपलब्ध हो जाती है सारा मन कुंठित हो जाता है अभी दौड़ने का वक्त था छलांग लगाने का कहीं रुकने का नहीं चंचल होने का हमने फिर होकर उसको पांच घंटे बिठा दिया स्कूल से छुट्टी होते वक्त देखा है आपने बच्चे कैसे जोर से चिल्लाते हुए स्कूल से निकलते हैं जैसे किसी कारागृह से बाहर निकले वो काराग्रह हो गया वो काराग्रह है लेकिन अभी तक कोई उपाय नहीं था हमारी समझ के बाहर था कि हम क्या करें रूस में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने नया प्रयोग सफल कर लिया है और वो कहते हैं कि बच्चों को दिन भर खेलने दो कूदने दो नाचने दो जो उन्हें करना उनका बचपन मत छीनो क्योंकि बचपन एक बार छीन लिया गया फिर दोबारा नहीं मिलेगा और ध्यान रहे जिसका बचपन छीन लिया गया उसकी जवानी भी थोड़ी अधूरी रहेगी क्योंकि वो बचपन के जो आधार उसकी जवानी को ताजगी देते वो कभी रखे ही नहीं गए वो छिटक गए वो बिखर गए दिन भर खेलने दो उससे बचपन मत छीनो उसका रात में उसके सोते में स्लीप टीचिंग हो सकती है रात सोते में उसके कान के पास टेप रिकॉर्डर लगा के उसे सारी शिक्षा दी जा सकती जो दिनों में महीनों में नहीं दी जा सकती उस पर वे सफल होते चले जा रहे हैं निश्चित ही आने वाले स्कूल रात में लगा करेंगे बच्चे स्कूल में जाकर सो जाएं दिन भर कर रहे रात स्कूल में सो जाएं सुबह घर आए ये संभावनाएं बढ़ती चली जा रही है और भी अद्भुत संभावनाएं आदमी खोज रहा है एक शिक्षक मरता है तो अब तक हमारे पास एक ही उपाय है कि अगर मैं कुछ जानता हूं तो मैं आपको बताऊं तभी आपको पता चलेगा एक शिक्षक मरेगा तो उसका जो ज्ञान है उसकी स्मृति है वो सब उसके साथ नष्ट हो जाएगी वैज्ञानिक सफल हो गए हैं इस बात में कि मेमोरी को ट्रांसप्लांट किया जा सके एक आदमी मरे तो उसकी सारी स्मृति को एक नए बच्चे को दिया जा सके सारी स्मृति उसका पूरी स्मृति का ढांचा निकाल के बच्चे को दिया जा सके ये इतनी बड़ी संभावनाएं हैं कि सारी शिक्षा दूसरी होगी मनुष्य के संबंध दूसरे होंगे अब तक हम यही सोचते थे कि हर बच्चे को माँ बाप के पास पाला जाना चाहिए ये बहुत सोचने विचारने पर गलत साबित होता चला जा रहा है और इतनी हैरानी की बात पता चल रही है कि माँ बाप के पास जब तक बच्चे पलते हैं तब तक अच्छे बच्चे पैदा करना मुश्किल उसके कई कारण समझ में आते हैं हम एक साल में भी नहीं हो सकते एक बच्चा अपनी माँ के पास बड़ा होता है बीस साल तक वो एक ही स्त्री को जानता है अपनी माँ को उसके प्रेम को जानता है और किसी स्त्री को नहीं जानता और किसी के प्रेम को नहीं जानता उसके मन में स्त्री का एक इमेज एक धारणा बन जाती है उसके अचेतन मन में स्त्री की एक कल्पना प्रविष्ट हो जाती है जो उसकी माँ के आधार पर निर्मित होती है अगर उसको ऐसी पत्नी मिल जाए जो ठीक उसकी माँ जैसी है तब तो ये दाम्पत्य सफल होगा अन्यथा कलह निश्चित है और हर आदमी अपनी पत्नी से उसी कलह में पड़ा हुआ है वो माँ की खोज कर रहा है जाने अनजाने और माँ कहा मिलने वाली है और हर पत्नी अपने पिता की खोज कर रही है पति में लेकिन पिता कहाँ मिलने वाला है वो जो इमेज उनके मन में बैठ गया पुरुष और स्त्री का वही खोज चल रही है इसलिए सारे दुनिया का दाम्पत्य एक कल है ऊपर से हम कुछ कहें ऊपर से हम मुस्कुराएं ऊपर से हम बताएं कि सब ठीक है लेकिन जो खोज करते हैं जो खोज में भीतर जाते हैं उन्हें पता है कि चेहरे पर मुस्कुराते हैं भीतर बड़ी कल है मैंने सुना है एक आदमी की औरत मर गई वो रो रहा है औरत की अर्थी बांधी गई और घर के बाहर निकाली जा रही है बाहर एक पीपल का दरख्त है अर्थी उससे टकरा गई वो औरत मरी नहीं थी सिर्फ बेहोश थी टकराने से हिल गई और उसने आवाज दी कि मुझे बांधा हुआ क्यों अर्थी उतारनी पड़ी वो औरत तीन साल और जिंदा रही फिर दोबारा मरी जब अर्थी निकालने जाने लगी वो आदमी रो रहा है लेकिन अर्थी निकालने वालों से उसने कहा भाई हो जरा संभाल के निकालना फिर दरख्त से न टकरा जाए भीतर सब कलह हो गई है भीतर छुटकारे का भाव है कितनी बार पत्नी सोचती है आत्महत्या कर ले नहीं करती है दूसरी बार कुछ तो कर ही लेती है कितने बार पति सोचता है कहाँ चला जाऊं मर जाऊं दब जाऊं कहां चला जाऊं लेकिन पुरानी संस्कृति उस ढांचे को जरा भी नहीं समझ पाती कि बात क्या है मनुष्य शास्त्र कहेगा बात यह है कि वे जिसे खोज रहे वो नहीं मिल सकता तो किसी बच्चे को माँ के पास एकदम पालना बहुत खतरनाक है इसराइल में वे उन्होंने कुछ प्रयोग किए हैं किबुस नाम की एक व्यवस्था थी बच्चों को स्कूल में पाला जा रहा है नर्सरीज में पाला जा रहा है एक नर्स तीन महीने से ज्यादा बच्चे के पास नहीं रहेगी बीस साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बच्चे के करीब बहुत तरह की स्त्रियां आएंगी माँ भी आएगी कभी मिलने आएगी चली जाएगी कभी बच्चा दिन दो दिन के लिए घर जाएगा फिर वापस लौट आएगा एक बच्चा इतनी स्त्रियों के परिचय में आएगा तो उसके पास स्त्री की कोई फिक्स इमेज कोई ठहरा हुआ चित्र नहीं होगा वो किसी भी स्त्री के साथ एडजस्ट हो सकता है फिक्स इमेज हुआ ठहरा हुआ चित्र हुआ तो फिर समायोजन बहुत मुश्किल 20 साल के अनुभव से उन्होंने जो नतीजे निकाले हैं वो ये कि इसराइल में पति पत्नी के बीच जैसा प्रीतिपूर्ण संबंध पैदा हो रहा है वैसा पृथ्वी पर कभी भी कहीं नहीं रहा होगा माँ से छुड़ाना पड़ा बच्चे को आमतौर से हम सोचते हैं कि माँ के पास बच्चा नहीं पलेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा और एक मजे की बात हुई कि माँ के पास बच्चा पलता है तो माँ 24 घंटे तो प्रेम नहीं दे सकती 24 घंटे प्रेम देना बड़ा टीडीएस काम बड़ी महंगा मुश्किल काम 24 घंटे प्रेम रहना पड़े घंटे आधे घंटे चलता है प्रेम 24 घंटे चलाओ तो भारी बचनी हो जाता है माँ 24 घंटे प्रेम तो नहीं दे सकती घड़ी आधी घड़ी प्रेम देगी नाराज भी होगी मारेगी भी चिल्लाएगी भी डांटेगी भी क्रोधित भी होगी बच्चे के मन में माँ के प्रति प्रेम भी पैदा होगा घृणा भी पैदा होगी दोनों एक साथ होंगे जब वो नाराज होगी तब बच्चा घृणा करेगा और जब वो प्रेम करेगी तब बच्चा प्रेम करेगा एक ही ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति के प्रति प्रेम और घृणा बच्चे का मन बड़ा खतरनाक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इसलिए फिर बाद में वो जिसको भी प्रेम करेगा उसको साथ में घृणा भी करेगा ये बड़ी मुश्किल बात है हम जिसको प्रेम करते हैं उसको हम कहीं किसी कोने पर घृणा भी करते हैं इसलिए प्रेम के घृणा में बदल जाने में क्षण भर की देर नहीं लगती प्रेम कभी भी घृणा बन सकता है अगर मेरी आपसे बहुत दोस्ती बहुत प्रेम है जरा सी बात और सब घृणा में बदल जाए घृणा पीछे खड़ी दूसरा हिस्सा है इसी इसी सिक्के का दूसरा हिस्सा है वे कहते हैं माँ के पास बच्चे को अगर पाला पूरे वक्त तो घृणा और प्रेम एक ही व्यक्ति से जुड़ जाएंगे जो जिंदगी भर व्यक्ति के मन को द्वंद में रखेंगे कॉन्फ्लिक्ट में रखेंगे उचित है कि बच्चे को माँ से दूर पालो माँ कभी मिलने आएगी तो प्रेम करेगी बच्चा कभी घर जाएगा तो प्रेम करेगी प्रेम का ही भाव माँ के प्रति बनेगा घृणा का नहीं और एक व्यक्ति के प्रति अगर प्रेम का 20 साल तक भाव बने तो वो व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट के बाहर होता है वो एक व्यक्ति को घृणा बिना घृणा किए प्रेम करने में सफल हो जाता है पूरी संस्कृति के आधार परिवार के आधार बहुत गलत बहुत ही गलत लेकिन जो नया ज्ञान मनुष्य के जीवन के संबंध में रोज नए अध्याय खोल रहा है हम कुछ अंधे हम उस सबका कुछ प्रयोग नहीं करना चाहते नई कार आती है हम उसका उपयोग कर लेते हैं नया मकान बनता है हम नया मकान बना लेते हैं आदमी आदमी के संबंध में जो नई खोज होती है उसका उपयोग नहीं करता और सब चीजों में नया हो जाता है फाउंटेन पेन नया आ जाएगा कार नहीं आ जाएगी सड़क नहीं बन जाएगी हवाई जहाज नया आ जाएगा पदार्थ के संबंध में जितनी खोज होती है आदमी उसका उपयोग करता आदमी के संबंध में जो खोज होती है उसके बाबत आदमी बहुत डरता है क्योंकि खुद के संबंध में प्रयोग करने में पूरे जीवन की व्यवस्था बदलनी पड़ी और उसमें डर लगता है तो हम उसके मामले में पुराने ही बने चले जाते हैं सब नया हो गया है सिर्फ आदमी पुराना है और सब नए के साथ पुराना आदमी बहुत बेमौजू हो गया एक्सर्ड हो गया उसका कोई तालमेल नहीं बैठता है और इसलिए तकलीफ हो गई फिर कुछ बुद्धिमान लोग कहते हैं जो नया हो गया उसको भी पुराना कर दो हवाई जहाज छोड़ो रेलगाड़ी छोड़ो मशीन छोड़ो बड़ी मशीन की जरूरत नहीं सब छोड़ दो पुराने हो जाओ बाहर भी पुराना कर लो एक रास्ता तो ये है कि हम बाहर भी सब पुराना कर लें मनु के जमाने में जो बैलगाड़ी थी उस पर ही चले तो मनु की स्मृति की समाज व्यवस्था चल सकती और मनु के जमाने में जो इंतजाम था जीवन का वही हम बाहर भी स्वीकार करें नहीं बाहर तो हमने आइंस्टीन तक आई हुई दुनिया को स्वीकार कर लिया और मनुष्य के भीतर मनु को पकड़े हुए आइंस्टीन और मनु के बीच साढ़े तीन हजार साल का फासला है हमने हर आदमी के भीतर साढ़े तीन हजार साल का टेंशन पैदा कर दिया हम उसको चिंता में डाले हुए मुश्किल में डाले हुए दो रास्ते हैं या तो बाहर भी हम पीछे लौट चले कोई राजी नहीं होगा कोई राजी नहीं है होना भी नहीं चाहिए कौन राजी होगा वापस लौट जाने को पीछे आदिम हो जाने के लिए फिर दूसरा रास्ता यह है कि हम आदमी को आगे ले आए आदमी के संबंध में जो भी नवीनतम ख्याल आए हैं उनका भी हम प्रयोग कर लें सब बदलना पड़ेगा विवाह की व्यवस्था परिवार की व्यवस्था माँ बाप के संबंध सब बदलने पड़ेंगे तो शायद अब तक जो हमने बनाया उससे एक भिन्न समाज बन जाए जो खोजते हैं उन्हें क्या दिखाई पड़ता है उन्हें ये दिखाई पड़ता है कि हर आदमी इतना पीड़ित और परेशान है कि अपनी पीड़ा और परेशानी निकालने के हजार उपाय खोजता है रास्ते पर कोई आदमी लड़ रहा है आप भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं कभी आपने सोचा आप क्यों देखने के लिए उत्सुक दो आदमी लड़ रहे हैं आपको क्या मतलब है नहीं आप हजार जरूरी काम छोड़ के भीड़ में खड़े हो गए और भीतर से दिल धड़क रहा और बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हो जाए कुछ जोरदार कुछ कसम कस हो जाए मुक्केबाजी हो जाए तो आनंद आ जाए पुलिस आ रही भीतर हालांकि ऊपर से भीड़ लगे हुए लोग कहेंगे भाई क्यों लड़ रहे हो लड़ो मत भीतर कहेंगे कहीं ऐसा ना हो कि लड़े ही ना लड़ जाए तो आनंद हो जाए अगर उन्होंने मान लिया भीड़ की बात और कहा अच्छा आप कहते हैं तो हम नहीं लड़ते तो भीड़ बड़ी उदास वापस लौटी कुछ भी नहीं हुआ बेकार समझ आया और अगर वो लड़ गए तो हमें भी बहुत रस आएगा किस बात का रस आ रहा है हम भी लड़ना चाहते हैं लड़ नहीं पाते हैं तो आइडेंटिटी खोज रहे हैं कहीं लड़ाई हो रही हो तो हम भी देख लें फिल्म देखते हैं आप डिटेक्टिव फिल्में हैं स्टंट पिक्चर है गोलियां चल रही हैं कारें एक दूसरे के पीछे पागल होकर दौड़ रही जब आपने देखा फिल्म के हाल में क्या हो जाता सबकी रीढ़ एकदम से सीधी हो जाती है योगी कितना ही सिखाए कि रीढ़ सीधी रखना कोई नहीं सुनता लेकिन जब स्टंट फिल्म में कोई कार किसी के पीछे दौड़ती है पागल होके पहाड़ी रास्तों पर मोड़ लेती है तब आप देखें फिल्म के भीतर एक आदमी कुर्सी से टिका हुआ मिल जाए तो समझना बहुत अद्भुत आदमी सबकी रीढ़ सीधी हो जाएगी जरा भी चूक ना जाए और सबके हाथ पैर में गड्डी आ जाएगी जैसे आप ही कार को चला रहे हो या आपका ही पीछा किया जा रहा हो हम आइडेंटिटी कर रहे हैं नहीं तो स्टंट फिल्में कौन देखेगा और जासूसी कहानियां कौन पढ़ेगा जो पढ़ रहे हैं जो देख रहे हैं उसके पीछे भीतरी कारण युद्ध में कौन रख लेगा युद्ध होता है तो कितनी ताजगी छा जाती सुबह जो आदमी आठ बजे उठता था वो पांच बजे उठ के रेडियो खोलने लगता है कि क्या खबर जो कभी सुबह देखा नहीं जिसने सूरज उगते नहीं देखा वो बाहर खड़े होकर रास्ता देखता है अखबार वाला कब आ जाए युद्ध के वक्त आपने देखा आदमी कितने ताजे मालूम पड़ते हैं गति मालूम पड़ती है हाथ पैर में ताकत मालूम पड़ती है सिर्फ ढीले ढाले नहीं तेज हो जाते कुछ हो रहा है भीतर हमारे युद्ध की बड़ी आकांक्षा है कुछ हो जाए बुरे की बड़ी आकांक्षा है क्योंकि हम बहुत क्रोध में बहुत दुख में बहुत पीड़ा में जी रहे हैं कुछ हो जाए उस कुछ हो जाने में हम बड़ा रस लेते हैं उस रस में रुग्ण भाव है जब तक मनुष्य का जीवन भीतर से दुख से भरा है तब तक बाहर के युद्ध बंद नहीं हो सकते जब तक मनुष्य भीतर से परेशान है तब तक बाहर से शांति की सब बातें फिजूल है विनोबा से लेकर बटन रसल तक सारे लोग शांति की बातें करते हैं लेकिन शांति नहीं हो सकती क्योंकि आदमी को जो आपने व्यवस्था दी है वो उसे भीतर से अशांत और परेशान कर देती एक एक आदमी अशांत है तो दुनिया शांत कैसे हो सकती जब तक एक एक आदमी शांत ना हो जाए दुनिया में शांति खोजनी असंभव है क्योंकि दुनिया हम सबका जोड़ है और क्या है संस्कृति बदलनी पड़ेगी ये सवाल भारतीय का नहीं ये संस्कृति पुरानी वो जो अब तक हमने सोचा और जाना उससे बहुत ज्यादा जाना गया उसका प्रयोग करना पड़ेगा घबराहट क्या है पुराने का प्रयोग हो चुका काफी हो चुका पांच हजार वर्ष किसी भी प्रयोग को देने के लिए काफी नए भी प्रयोग करने की हिम्मत जुटानी चाहिए हो सकता है नया भी असफल हो जाए तो हम और नए को खोजेंगे डर क्या है जिंदगी तो खोज है निरंतर अगर ये भी असफल हुआ और नया खोजेंगे असफलता भी नए की तरफ ले जाएगी आइंस्टीन एक, एक युवक के साथ एक रिसर्च का शोध कार्य में लगा हुआ था उन्होंने सात सौ प्रयोग किए सब प्रयोग असफल हो गए वो युवक इस बूढ़े के साथ थक गया 700 प्रयोग हर प्रयोग असफल होता चला गया और आइंस्टीन रोज सुबह दूसरे दिन ताजा फिर आके खड़ा हो जाता है फिर नया प्रयोग करने लगता वो युवक थक गया उसकी दस साल उम्र बढ़ गई ऐसा उसे लगने लगा कि क्या पागलपन सात सौ बार असफलता हो गई और यह आदमी रोज सुबह फिर हाजिर है उतनी ही खुशी से फिर प्रयोग शुरू कर रहा है उसने आइंस्टीन से पूछा कि हम सौ बार असफल हो गए आप थक नहीं गए आइंस्टीन ने कहा असफल हम सात सौ बार असफल नहीं हुए सात सौ दिशाओं में हमने खोज लिया सात सौ दिशाएं असफल हो गई हम जीतते चले जा रहे हैं अब कम दिशाएं बची हैं धीरे धीरे और इलिमिनेशन हो जाएगा और दिशाएं खत्म हो जाएंगी फिर वो एक ही बच जाएगी जहां कोई सफल होना निश्चित है हमारी जीत चल रही है सिर्फ एक तरह के लोग हार जाते हैं जो प्रयोग करना बंद कर देते हैं हमने तो बंद ही कर दिए हैं प्रयोग साल हम कोई प्रयोग नहीं करते हम छोटा मोटा प्रयोग भी नहीं करते हैं हम तो बंधी हुई लीक पर चलने के ऐसे आदि हो गए हैं कि ऑटोमेटा मशीन हो गए हैं आदमी नहीं है बस बंधी हुई लीक है पिता ऐसा करते थे उनके पिता ऐसा करते थे उनके पिता ऐसा करते थे उनके बेटे की वैसा ही किए चले जा रहे ये ये शुभ नहीं है बगावत चाहिए विद्रोह चाहिए नए के प्रयोग की कोशिश चाहिए नया भी गलत हो सकता है लेकिन प्रयोग ना करने से गलत कोई प्रयोग नहीं हो सकता प्रयोग करना ही चाहिए होगा गलत छोड़ेंगे और नए की खोज करेंगे पुराना मनुष्य का ढांचा असफल हो गया है ये कोई कहने की बात हम अपने को देख के कह सकते हैं हम फल हैं उस ढांचे के एक और प्रश्न एक मित्र ने पूछा है कि भीतर जाने में यदि कोई पागल हो जाए तो क्या करें उन मित्र को पता नहीं कि जब तक कोई बाहर है तब तक ही पागल होता है भीतर जाने में पागलपन छूटना शुरू होता है लेकिन ऐसा हो सकता है कि भीतर गया हुआ आदमी दूसरों को पागल मालूम पड़ने लगे मेरे एक मित्र भी वो पागल हो गए थे 1936 में बूढ़े आदमी है अब तो भी पागल हो गए घर से भाग गए तो कहीं भी कुछ उपद्रव किया आगरा में अदालत ने उनको छह महीने की सजा दे दी लेकिन देखा अदालत ने कि आदमी पागल है तो उन्होंने कहा कि ये सजा पागल खाने में बिताई जाए इलाज भी चले और पागल खाने में छह महीने की सजा भी बिताई जाए वो लाहौर के पागल खाने में भेज दिए गए वो मुझसे कहते थे कि दो महीने तक बड़े मजे में दिन कटे क्योंकि मैं भी पागल था और तीन सौ पागल और मिल गए थे मित्र मिल गए थे समाज मिल गया बहुत मजे में दिन कटे दो महीने बाद फिनाइल का एक डब्बा कहीं रखा हुआ मिल गया पागल खाने में उसा उठा के पी गए फिनाइल का डब्बा पी लिया तो इतनी कह इतने दस्त हुए कि सारे मस्तिष्क की और शरीर की गर्मी निकल गई तो वो ठीक हो गए लेकिन वो मुझसे कहते थे जब मैं ठीक हो गया तब मेरी असली मुसीबत शुरू हुई क्योंकि 300 आदमी पागल से कोई मेरी टांग खींचता है कोई मेरा कान पकड़ता है कोई चांटा मार जाता है कोई मेरे ऊपर बैठ जाता है दो महीने तक मैं भी ये कर रहा था तो कोई गड़बड़ ना थी सब ठीक था अब वहां 300 पागल के बीच एक आदमी जो पागल नहीं है उसकी मुसीबत वो चिल्ला चिल्ला के कहता है डॉक्टरों से कि मैं पागल नहीं हूं लेकिन डॉक्टर कहते हैं ये तो सभी पागल कहते हैं कोई बात ही नहीं वो जितना जोर से चिल्लाता है डॉक्टर कहते हैं शांत रहो ये सभी पागल कहते हैं जोर से चिल्लाओगे तो और कड़ी सजा हो सकती वो मुझसे कहते थे चार महीने मैंने ऐसा नरक होगा कि मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता कि कोई तरकीब से मुझे फिर पागल कर दे पागलों के बीच ठीक हो जाना बड़ा मुश्किल मामला है भीतर जाने वाला आदमी पागल नहीं होता है लेकिन बाहर की भीड़ को पागल दिखाई पड़ सकता है जीसस हमें पागल ही दिखाई पड़े नहीं तो हम सूली पर लटकाते लगा कि यह आदमी पागल खत्म करो इस आदमी को सुकरात हमें पागल ही मालूम पड़ा नहीं तो हम जहर पिलाते लगा यह आदमी पागल इसे खत्म करो भीतर गया आदमी हमें पागल मालूम पड़ सकता है लेकिन भीतर गया आदमी पागल होता नहीं बाहरी हम पागल हैं हम करीब करीब पागल हैं हमारे पागलपन में डिग्री के फर्क है एक आदमी ज्यादा पागल है तो दिखाई पड़ने लगता है हम नॉर्मल पागल हैं तो हमें कभी पता नहीं चलता जिंदगी जल्दी चली जाती लेकिन अगर हम थोड़ी खोजबीन करेंगे तो हमें पागलपन के लक्षण अपने में मिलने कठिन नहीं है एकांत में चले जाएं द्वार बंद कर लें कागज और कलम ले लें और लिखें कि आपके मन में क्या चलता है आधा घंटे तक जो भी चलता हो उसे लिख डालें और फिर किसी मित्र को दिखाएं वो एक तरफ कागज को देखेगा और दूसरी तरफ आपको देखेगा फिर कागज देखेगा फिर आपको देखेगा और कहेगा जल्दी बैठिए रिक्शे में किसी डॉक्टर के पास ले चले आपके दिमाग को ये क्या हो गया ये तुम्हारे भीतर बातें चलती हैं हालांकि अगर वो मित्र भी एकांत में बैठ के लिखेगा तो ये ही बातें उसके भीतर भी चलती और अगर वो जिस डॉक्टर के पास ले जा रहा है वो भी एकांत में लिखेगा उसके भीतर भी यही बातें चलती कोई फर्क नहीं लेकिन हम भीतर झांकते ही नहीं कि कैसा पागलपन है भीतर कभी आप आप कभी झांके खोजें तो पता चलेगा क्या क्या पागलपन के ख्याल उठते हैं कैसे कैसे विचार उठते हैं हम उन्हें दबाए हुए हैं पागल वो है जो दबाना भूल गया और निकल गया हम संयमी पागल संयम साधे हुए लेकिन जरा में संयम टूट सकता है दिवाला निकल जाए पत्नी मर जाए कुछ भी हो जाए जरा में सब गड़बड़ हो सकता है और भीतर की सब भाव बाहर आ सकती जरा सी स्थिति में बदलाव हो सकती है निन्यानवे डिग्री पर सब उबल रहे सौ डिग्री हो जाए भाव बन जाए ये जो हमारी हालत है ये स्वस्थ हालत नहीं भीतर जितने हम गहरे जाएंगे उतना हम स्वास्थ्य के करीब पहुंचेंगे क्योंकि भीतर वो सोर्स वो केंद्र है जहां से जीवन की धाराएं मिलती आपने ख्याल किया होगा पागल आदमी की नींद चली जाती है और जिसकी नींद चले जाए उसके पागल होने का डर पैदा हो जाता है क्यों क्योंकि नींद में भर हम भीतर जाते हैं थोड़ा सा बस जिंदगी में जागते तो कभी जाते नहीं गहरी नींद हो जाती तो भीतर चले जाते और भीतर से जो जीवन के रस स्रोत है उनको लेके वापस लौटाते हैं इसलिए सुबह हम ताजा लगते हैं सुबह की ताजगी रात भीतर उतर जाने का फल है जो जितनी गहरी नींद सोता है उतना ताजा हो जाता है अगर रात भर नींद ना आए तो सुबह हम पागल जैसे हो जाते हैं अगर दस पंद्रह दिन नींद ना आए चीन में वो एक काम करते थे सजा देते थे एक कठिन से कठिन सजा थी जिसको फांसी से भी ज्यादा कठिन सजा देनी होती अब फांसी से ज्यादा कठिन और क्या होगा तो उसे एक खास सजा देते थे वो सजा ये थी कि उसे कोठरी में खड़ा कर देते थे जिस कोठरी में चारों तरफ से भाले छिदे होते वो आदमी जरा भी यहां वहां हो तो भाले छिद जाए और उसकी खोपड़ी पर एक बूंद बूंद पानी टपकता रहता था टप टप तब 24 घंटे नींद उसको आ नहीं सकती हिलेगा डुलेगा जरे नींद आई झपकी लगी कि भाला छुट जाएगा और वो टप टप जो है वो उसकी खोपड़ी को खा रही है ऊपर से तब तब अब वो परेशान हुआ जा रहा है वो धीरे धीरे टप टप ऐसा मालूम होने लगे जैसे पहाड़ टूट रहा निरंतर निरंतर और नींद आ नहीं सकती पंद्रह दिन में वो आदमी विक्षिप्त हो जाएगा पंद्रह दिन भी बहुत ताकतवर लोग टिक सकते आमतौर से तीन दिन में आदमी पागल हो जाए ये सबसे बड़ी सजा थी फांसी के बाद ईजाद करने वाले लोग हुए खतरनाक लोग हैं वो क्या क्या ईजाद करने नहीं कहा जाता लेकिन एक बात तय है कि हम जितनी गहरी नींद में जाते हैं उतने ताजे होकर वापस लौटते हैं भीतर हम जितने उतरते हैं अभी नींद का बहुत विश्लेषण चलता है अमेरिका में कोई दस लेबोरेटरीज खड़ी की गई हैं जिनमें कोई दस हजार लोगों पर प्रयोग चलता है रोज रात को सैकड़ों आदमी सुलाए जाते हैं उनकी नींद की जांच करने के लिए जिस आदमी को सपने चलते रहते हैं वो आदमी सुबह उठ के कहता है कि ताजगी नहीं आई और रात भर करीब करीब सपने चलते रहते हैं बहुत कम लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत देर के लिए सपने बंद होते हैं जितनी देर के लिए सपना बंद होता है उतनी देर तक नीचे डुबकी लग जाती है और अब तो जांचने के उपाय हैं मशीन जांच लेती है कि आदमी कितना गहरा गया नींद में सपने में चलता है तो ग्राफ ऊपर बनता है गहरा जाता है तो नीचे क्योंकि जो खोपड़ी की नसें हैं वो सपने में चलती हैं तेजी से नींद आती है शिथिल हो जाती है और नींद आती है बंद हो जाती है गति बिल्कुल धीमी हो जाती है कौन आदमी कितनी गहरी नींद में गया है उन्होंने जो हिसाब लगाया है वो ये है कि जो आदमी जितनी गहरी नींद में चला जाता है वो आदमी के पागल होने की उतनी कम संभावना है और जो आदमी नींद में ऊपर ही ऊपर घूमता रहता है उसके पागल होने का कभी भी डर छोटी सी चीजों से पागल करते हैं तो नींद में तो हम बेहोशों के भीतर जाते हैं और धर्म हमें वो प्रक्रिया सिखाता है कि हम होश से भीतर पहुंच जाए नींद तो बेहोश भीतर हम जाते हैं धर्म हमें वो प्रक्रिया और विज्ञान और मेथड सिखाता है कि हम कैसे होशपूर्वक भीतर पहुंच जाए तो भीतर जाने से कोई कभी पागल नहीं होता है दूसरों को पागल दिखाई पड़ सकता है लेकिन अगर कोई भी आदमी भीतर जाना शुरू करेगा तो पहले पहले उसको भी लगेगा कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा उसका कारण उसका कारण यह उसने कभी भीतर झाका ही नहीं पागल तो हम हैं भीतर कभी झांका नहीं इसलिए पता नहीं चलता झांकेंगे तो पता चलेगा एक लड़का खेल रहा है हॉकी उसके पैर में चोट लग गई खून बह रहा है वो खेल में तल्लीन सारे भीड़ को दिखाई पड़ रहा है उसके पैर से खून बह रहा उसको भर पता नहीं पता नहीं होने से खून नहीं बह रहा ऐसा नहीं खून तो बह रहा लेकिन उसकी पूरी अटेंशन पूरा ध्यान खेल में उलझा हुआ खेल बंद हुआ और वो एकदम कहता है अरे मेरे पैर में चोट लगी चोट अभी नहीं लगी चोट लगी ही थी अब पता चला क्योंकि ध्यान उस तरफ गया जो लोग बाहर ही बाहर भटक रहे हैं दुकान में बाजार में मंदिर में मस्जिद में घूम रहे हैं उनको भीतर का ध्यान भी नहीं है कि वहां पागलपन इकट्ठा हो रहा है जब कोई आदमी भीतर जाएगा तो पहली दफा उसे पता चलेगा कि क्या है कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा पागल नहीं हो रहे हैं पागलपन था भीतर पहली दफे ध्यान गया है और अगर ध्यान गया है तो पागलपन मिट सकता है क्योंकि ध्यान से बड़ी चीज पागलपन को मिटाने की और कोई भी नहीं और अगर ध्यान बाहरी बार भटकता रहो तो पागलपन भीतर इकट्ठा होता चला जाएगा जुंग ने जिसने अपनी जिंदगी में शायद पृथ्वी पर सर्वाधिक पागलों का इलाज किया और पागलों के संबंध में इससे बड़ा कोई जानकार खोजना मुश्किल है जुंग ने लिखा है कि मैं जितने लोगों को अनुभव किया हूं कि जो पागल हो गए हैं उनमें मुझे ऐसा मालूम पड़ता है वे लोग अधिक हैं जिनका धार्मिक साधना से कोई भी संबंध नहीं रहा है एक मनोवैज्ञानिक ये कहे हैरानी की बात है कह रहा है वो ये कि जो लोग पागल हो गए हैं मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी में धर्म से कोई भी संबंध नहीं रहा पश्चिम में जोर से पागलपन बढ़ा है पूर्व में पागलपन थोड़ा कम है पश्चिम में जोर से बढ़ा है अमेरिका में तो डर है कि अगर 150 वर्ष ऐसे ही चला तो कौन किससे इलाज करवाएगा ये तय करना मुश्किल हो जाए जोर से पागलपन बढ़ता चला गया है स्वीकृत हो गया सामान्य बीमारी हो गई क्यों भीतर जाने के सब द्वार हमने छोड़ दिए भीतर हम जाते ही नहीं नींद का एक द्वार था प्राकृतिक वो भी छोड़ दिया है रोशनी पैदा हो गई रात दिन में बदल गई अब रात सोने की कोई जरूरत नहीं रात नाचो तीन चार बजे तक गीत गाओ कूदो खेलो घड़ी दो घड़ी रात भर का तनाव दिन भर का तनाव लेटो बिस्तर पर करवटे बदलो सुबह फिर उठाओ फिर दौड़ शुरू हो जाए आदमी पागल नहीं होगा तो और क्या होगा भीतर जाना बंद हुआ है उससे आदमी पागल हो रहा है भीतर हम जितने जाएंगे उतने हम ओरिजिनल सोर्स कुछ हमारे भीतर उद्गम है जीवन का शक्ति का वहां हम पहुंचते हैं वहां से हम उतनी ही ताकत लेकर बाहर आते हैं अगर कोई व्यक्ति ये कला सीख जाए भीतर जाने की तो दिल में कई बार भीतर जा सकता है जब आंख बंद करे भीतर चला जाए एक डुबकी ले ताजा हो बाहर आ जाए जिंदगी बिल्कुल और हो जाएगी हम अपने दरवाजे पर खड़े हैं घर के दरवाजे पर बाहर धूप है हम भीतर चले आते हैं सिर्फ भीतर सर्दी लग रही है अंधेरा है हम बाहर चले आते हैं अगर जीवन समझ पूर्वक जिया जाए तो अपने भीतर और बाहर जाना इतना ही आसान है जैसे घर के बाहर जाना और भीतर आना इतना ही आसान है और जिस दिन इतना आसान अनुभव धीरे धीरे प्रविष्ट हो जाता है उस दिन आदमी देखता है कि बाहर बाहर को सिर्फ जीना है जीवन के मूल स्रोत भीतर है बाहर तो केवल संबंध है सत्य के भीतर बाहर तो केवल एक विस्तार है गहराई भीतर है और जो भीतर जितना ज्यादा उतरता उतना अपने ही भीतर नहीं दूसरे की भी भीतर देखने में समर्थ हो जाता है जिस दिन गहराइयां दिखाई पड़ने लगती हैं जिस दिन आपका चेहरा ही नहीं दिखाई पड़ता आपकी गहराई डेप्थ दिखाई पड़ती है जिस दिन आपका शरीर नहीं दिखाई पड़ता आप दिखाई पड़ते हैं उस दिन ये सारा जगत परमात्मा हो जाता है उस दिन इस जगत में पत्थर खोजना मुश्किल है उस दिन इस जगत में पत्ता फूल खोजना मुश्किल है उस दिन सब तरफ परमात्मा की गहराई में आंदोलित मालूम होने लगता है ये जो प्रतीति है परम आनंद की ये जो प्रतीति है परम स्वास्थ्य की ये जो प्रतीति है परम अमृत की क्योंकि जैसे ही यहाँ कोई पहुंचा भीतर उसने ये भी जान लिया कि मृत्यु झूठ है मृत्यु से बड़ा झूठ कुछ भी नहीं कोई कभी नहीं मरा और कोई कभी मरेगा भी नहीं लेकिन हम बाहर जीते हैं हमें पता ही नहीं अमृत का रोज मरने मरने से घिरे रहते हैं हमें पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ है जो कभी नहीं मरता एक फकीर के पास कोई गया था और उस फकीर से पूछने लगा कि मैं पूछने आया हूं जीवन और मृत्यु क्या है उस फकीर ने कहा भाग जाओ यहां से अगर जीवन के संबंध में पूछना हो तो मुझसे पूछो और मृत्यु के संबंध में पूछना हो तो किसी मरे हुए आदमी को खोजो मैं कभी मरा ही नहीं और जिस दिन से भीतर गया हूं मैं हैरान हूं कि लोग मृत्यु में कैसे गुजर जाते हैं उन्हें पता ही नहीं कि भीतर जो है वो मरता ही नहीं एक कुछ है जो सब मृत्यु को जीत कर पार निकल जाता है लेकिन भीतर जाएंगे तो ही उसका पता चलेगा आप तो कह रहे हैं पागल भीतर गए पागलपन असंभव है भीतर गए मृत्यु असंभव है कि भीतर जो है वो शाश्वत है चिरंतन है सदा है लेकिन हम वहां कभी गए नहीं हम अपने ही बाहर भटके हैं जन्मों जन्मों में बहुत बार वही वही घूमते रहे हैं एक कोलू का चक्कर है जिसमें हम घूमते रहे उसी में घूमते चले जाते हैं नए बच्चों को भी दीक्षित कर देते हैं तुम भी घूमो हम भी उसी में घूमते चले जाते हैं कोई नहीं लौटता अपनी तरफ और जो लौट आता है उसकी जिंदगी में जो पाने जैसा है उसका सुराख मिल जाता है द्वार खुल जाता है ऐसा नहीं है कि भीतर पहुंच के हमने सब पा लिया भीतर पहुंच के सिर्फ पाने की शुरुआत होती सिर्फ द्वार खुलता है एक प्रकाश का जहां अनंत प्रकाश और अनंत जीवन और अनंत आनंद और ऐसी सुगंध है जो हमने नहीं जानी और ऐसा संगीत है जो किसी वीणा से कभी पैदा नहीं होता और ऐसे फूल हैं जो कभी मुरझाते नहीं लेकिन उस तक हम जाएंगे तभी और मैं कहूं इससे क्या हो सकता है मैं कहूं इससे क्या हो सकता है मैं जो कह रहा हूं उससे कुछ भी पता भी तो नहीं चलता जाएंगे तो ही पता चलेगा उतरेंगे तो ही पता चलेगा किताबों में सब लिखा है उसे पढ़ लेंगे तो पता नहीं चल सकता है एक आदमी तैरने के संबंध में सब कुछ पढ़ ले तो भी तैरना नहीं जानता और उसे ये भी पता नहीं चलता कि तैरने की पुलक और आनंद क्या है और सागर की लहरों के साथ जूझना क्या है सूरज की किरणों में सागर में तैर जाना क्या है उतरा जाना क्या है चुपचाप पढ़े रह जाना क्या उसे कुछ पता नहीं किताब पढ़ लेता है तैरने के संबंध सब किताबें पढ़ ले तैरने के संबंध में खुद भी किताब लिख सकता है व्याख्यान भी दे सकता है लेकिन उस आदमी को भूल के नदी में धक्का मत दे देते धक्का दिया कि सब किताबों के सहित वो डूब जाए तैरने का उसे कोई भी पता नहीं तो जिस भीतर की मैं बात कर रहा हूं वहां जाए बिना कोई रास्ता नहीं है मेरी बात सिर्फ एक प्यार जगा सके तो पर्याप्त एक ख्याल पैदा कर सके कि है कुछ भीतर खोजे मैं नहीं कहता कि मान ले मैं नहीं कहता कि मैं कहता हूं तो मान ले हो सकता है मैं ब्रह्म हूं ब्रह्म होने की सदा संभावना मैं नहीं कहता मेरी बात मान ले इतना कहता हूं कि कुछ मुझे दिखाई पड़ता है वहां थोड़ा झांके शायद आपको भी दिखाई पड़ जाए और जिस दिन दिखाई पड़ जाएगा उस दिन आप उसी हालत में आ जाएंगे अंतिम घटना अपनी बात पूरी कर दूं एक गांव में बुद्ध गए हैं और उस गांव के कुछ लोग एक अंधे आदमी को पास ले आए और कहा यह मानता नहीं कि प्रकाश है हम क्या करें बहुत समझाते हैं समझता नहीं बुद्ध ने कहा तुम पागल अंधे को समझाने से क्या प्रयोजन इसे किसी वैद्य के पास ले जाओ विचारक के पास नहीं इसके आंख का इलाज करवाओ उपचार करवाओ उपदेश नहीं ठीक हो जाएगी आंख तो प्रकाश दिख जाएगा समझाने की जरूरत नहीं उन्होंने कहा हम तो आए थे आपके पास कि आप बुद्धिमान है आप शायद समझा सके बुद्ध ने कहा मैं इतना बुद्धिमान हूं कि समझाऊंगा नहीं तुमने समझाया ये बुद्धिहीनता की बात समझाने की क्या जरूरत है इसमें इसे ले जाओ चिकित्सा के लिए उसकी चिकित्सा के लिए ले गए उसकी आंख ठीक हो गई छह महीने बाद वो नाचता हुआ गांव में फिरा और उसने कहा कि मैं भूल में था प्रकाश तो था मेरे पास आंख नहीं थी और मैं पागल कहता था कि प्रकाश नहीं है मैं कहता था प्रकाश मुझे छू कर देखना है अब मैं जानता हूं कि प्रकाश को कोई छू के कैसे बदला सकता है मैं कहता था प्रकाश को बजाओ मैं उसकी आवाज सुन लू अब मैं जानता हूं कि प्रकाश को कोई कैसे बजा सकता था मैं कहता था लाओ प्रकाश को मेरे पास में चख लू स्वाद ले लू अब मैं जानता हूं प्रकाश का कोई स्वाद नहीं है लेकिन प्रकाश है मेरे पास आंख नहीं आंख की खोज धर्म है एक ऐसी आंख की जो भीतर उतार देती है उस आंख से संबंधित कल सुबह हम बात करें आपने मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उससे अनुग्रहित हूँ और अंत में सबके भीतर रहते परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार करता